माटा किने पीने दिल की फिरे काला खाली माटा किने पीने दिल की फिरे काला तैं तो नहीं पति जो शोरवा यारों खूना फिरना तैं तो नहीं पति जो शोरवा हजारों खुणा फिरे नारथ तो नाही पति जो शोरवा खाली माटा मारे खेमे बिलकी फिरे कलाड़ ਨਹੀਂ ਪਤੀ ਜੋ ਸ਼ੋਰਵਾ ਤੋਂ ਚਾਰੋਂ ਖੁਣਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਗੋੰਦਾ ਤਾ ਦਾਰੂ ਸੋੜ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਕੰਦੋ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਲਾਲੀ ਤੇ ਸਮਝਾ ਕਲਾਲੀ ਆ ਸਵਾਈ ਭੋਜਨੇ ਕੀਆ ਸਵਾਈ ਭੋਜ ਦੇ ਗਰੋਜਾਰੇ ਕਲਾਲੀ ਦਾਰੂ ਕੋਨੇ ਗੋੰਦਾ ਤਾ ਦਾਰੂ ਸ਼ੀਪ ਕੋਨੇ मोर हाथ सोरिया चुकी जो ले जा रे सवाई भोजन मंडा आगे आप ढिगली कर दीवी वो हाकड़ो जो कोई घोड़ियों में एल दियो वो बंदा था दो मोर हाथ दीवी मने जो को तो मारे कने रे आप दूजी आप मारे कने आप रो रे सो तो गन को पुन है वाह वाह तो सवाल के बातों का लाली सवाई वो उसने देखा ये जान जी देखा तो हाँ। ਖੜ ਕਾਠਣ ਦੇ ਮੂਲੇ ਬੇਸਣ ਵਗ ਦੀ ਰਾਸ਼ੋ काठण मूली वेतन बाग दिरा सोरवार तरा मरो पचास है मत मर जो भोजा बागरा थानी करे कलाली आठ आप बिना कोई नहीं दारू बेचू तो तांबे पत्र तीन से तलाक तीन से तलाक रे कदो गाल आप बिना कोई ने दारू सी भी देऊ तो कलालिया तलाक काट गई भाई बहुत देख रे बोजा रे भाई नियात कलाली तो आप तलाक काट गई तोरेन कोरादा बारे गांव कलाली ने दियोड़ा लगवे याद राजा आप जबती बोला आज दीनी जबती बोला इर स्वाई बहुत बोले रे भाई ने कलाली सवा लाख टीप लिख दो भाई वाह वाह दारू पिया तो सवा लाख दे देना नहीं पिया तो सवा लाख दे देना तो सवाई बहुत आप कलाली सवा लाख री टीप लिख दी सवाई बहुत आप कम दस कुंडरे माथे आया सो क्या पीर ने हेलो पाड़ियो और सो क्या पीर बारे आजा भाई महादेव री फतेह भेगी है Şu köpüre bari ayı. Kalalı yapma medan mine abzar mölemadı hoyu. Hayrivi. Şu köpüre bari ayı göre vay baba dine ade rubder. Gece. Fermanı partına bir. Acı. Çok köpüre bari ayı da muti koltay pankam da kunduz fazı başı öbüla. Hayriyo. Hayriyo. सुख शोभानंदा से आप दौड़ कला लेखन है आई ओ भाई जी बधाई दे जो बधाई दो भाई जी कम कुंड भरियो बड़ा खाई दिया कलाड़ी देख रहे हो कुत्ती रान मारू मिशगिरिया करे है नवे हमारे यहाँ मदन कम दस कुंड में दारू आई तो कलाड़ी ने पानी रो कलशो भर भरो कलाड़ी ने पानी आनी पायो કરકલો લીરો કે આપ જીવ સંતોર બેટો કમ કુંડ રે હમ દેખ્યો તો ભર્યો હિવોળા ખાઈ રહ્યો ઉતર મે ધામ ને સિરાવ સ્વાઈ ભોજ કે ડેરે આઈ આયરા હાથ જોડ કઈ સ્વાઈ ભોજ ને સવાલ હે દેખ टायो फायो ਤੇਰੇ ਹਰ ਕੀ ਫਿਰੇ ਕਲਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਮਾਰੇ ਸਾਵਣ ਵਾਦਵਾਰ ਭਜਾ ਹੈ ਰਤਨ ਤਲਾਵ ਤੋ ਕਲਾਲੀ ਕਾਮ ਨੋ ਨੇ ਜਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਗੋ ਭਾਈ ਮੀਠਾ ਮਥੋਲਾ ਬਰਾਦਾ ਨੇ ਗੋਟ ਦੇ ਵਰ ਕਹੀਂ ਦਰ ਦੁਰ ਬੇੜਾ ਪੀਏ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਜਾਣ ਜੀ ਤਾਂ लाख लुटाया टारेना सारण वाट ने पथां दरियावा पार रे मथां दरियावा पार र अपने ढार पेली प्यालो पी विथान लाख लुठा जा ढार दे दीना है सारण वाठन है बजे बाता वेगी है दरिया वाई बार लाख घोटा घोड़ा जो सारण वाठन लुठा दिया बाता ने दरिया मां पार वेगी जिससे तो शेर की ससुरियां जो आप सा जाए रही मीठम थोड़ा दारू दर बेड़ा पी जा रहा है मथवाल देखने ढूक या आता में तो तोड़ जा रहा उबी उबी रहेगी भाई बहुत देख रहे हो जा रहे भाई निया एक कौन है कोहन दाता शेर जावे ए जार केवे कोहन दाता यूं केवे पगा लागू जी सा गाल जियो गाले तो पगा लागनो पड़े और बहरी के मारे कहीं पगा लागे भैंसे लाग जो उधर सा हाथ आए भाई न्याय बड़ी दुखी है तो क्यों तो कहीं स्वाई हो जाओ सुष्ट मानवे कहीं शेर निकले काटे है देखा मारियो कुंवर बागरा बटिया माते वेश मरदा दूधे प्याले पीवता लाख लुटाई वेश मरदा दूधो प्यालो पीवता लाख लुटाई दी वेश रे उरवेर भटिया माथे बैठ दूधे प्याले पी विता मज लाग लुटाई दी भैंस लाग भैंसाम लुटाई देवी फिर की ससुरिया ने क्यों रे भाई कोई ने सारे सा ने कोई करे आवन और कोई जावन सा दूध पियो और मौज करो जिथे तो बाजार बाजार अब धुर बोरा लड़ता लड़ता बहरिया मत दो के वहां ना भाई समेत दे दो फिर खालो देख बोले अंदाता आपके आपके तो जमान मोड़ो आपके असो की बादरी बे थाने बेवा यूं करता करता लड़ता लड़ता आई रिया तब आई होस देख बोले रे भाई निया ए कौन है को अंदाता दुर्पोर आर को मैं देन देन जको लड़े है तो रे भाई निया ने बड़ा दुखी है तो तो बुलाई मात नंद नाना पाई समेता भी हिसाब कराए दियो भाई आई जगह सूती मंगा रहा ना पाई समेत चुका आज बीवी तोरे भाई न्या रहन तो कोई दुखी नहीं नहीं है नहीं रहना तो राजा ने दारू पावर कहीं गोठा देवे है महदेवरिया दारू पी कऊंवार बागराना सोजान दारू पियो कौवार बागराना सोजाबान मथुआरा लारे यू जड़े Vagara, Vagara, Vagara, Vagara, Vagara, बायलां सोड्या पान सवाई गोदरे लारे सगळी सबायू पिये दण वंदडा इलारे जान रेन खरा जनाब गोट दीवी फिर दारू दरबेड़ा पिया फिर आप तामल खाना उड़ायरिया दारू दरबेड़ा पादी मीठा मथोड़ा ने असवारे वही वही है तो आप पासा पदनोर पधार पिया ભગવાન મહારાજા રામ સબાર વિના બીડો ફેર્યો કોરે મરદા રાજા અબ્બાસ ગ્રે માને પસંદ વિયોડો પકડાવો તને ખપાવણા રામ સભામાં ભગવાન જીયા ભગવાન મહારાજ બીડો ફેર્યો તો ગજાનંદ જીયા બીડો જઈ લ્યો भगवान देख बोले रे गजानंद जी महाराज आप अगजा पुतो तू लगे हली देखो वो ये नहीं अरे थे बगड़ा तने तो की करे खपा हो को अंदा था मारे कने उंदरा नो सालो घणो है बगड़ा तो दारू पीऊ ने बैठ रिया जारे उंदरा पेदाश कर दे हो तो जात में जवाने आप प्याल में उतार दे हो ओरे भाई मारी चदो राई पण जाओ गजानंद जी आप भी विरोध हेदरा पकड़ाओ तने तो खपावन वास्ते वीर विया बदनौर की कचड़े में मीठा मथो वाला विराजमान वेरिया ચોવીસ ભાઈ મને સાઉથ નહીં હોતી આ કાગારું પજોડા અગમરી વિથમરી સેમિંદાની વાત વાને આગલી લાડલી હુજે अन्य तो का धनंदी भी व्यारन नहीं आज ठन था हामत नहीं होती थे एक बोला रे भाई आज आपने माते भगवान कोप को है यार गजानंद जी महाराज आपने मारने वास्ते आवे तो गजानंद जी आपना गांव खेड़ा दटे दटे थान थ्रिप दो गजानंद जी माला फेरो मंगल गुहारो गजानंद जी ने आप शिवरो તો વગડાવ થાના ગાંવ ખેડાદરે ગદાનંદી મહારાજરા થાન થ્રિપજ્યા તેલે હિન્દુ રે સાટ્યાર ગદાનંદ ગદાનંદ ગદાનંદના માળા ફેર્યાર એક પગરે પાન વેગા ચોવીસી ભાઈ અને મહારાજ ગદાનંદજી આયા આયા તા કે આને નામરી માળા ફેર રહ્યા ફેર રહ્યા ગદાનંદજી મન મેં વિચાર કર્યો કે તું વેગા આપા આગનાગ વિડો દે લ્યો એ તો આપના ભગત રાફાની નામરી માળા ફેરે ગજાનંદ આબોત પ્રસન્ન વેગા આવતા બોલે રે માંગો રે માંગો બગડા આવતા થાને તૂટો કોહન દાદા પસંદ દેવો તો માંગા કે બાસ બાસાર બ્રહ્મ ભાષા કોહન દાદા માર્ગ ને विराज और वैकुंठ मत पारो पधारो ना पाचा तो बस ना मिले रे आप गजानंद बैठा आन बैठा लिया भगवान देखो रे गजानंद जी यार वही पास आया को ये नहीं तो खैर कहीं विराज फेरे सभा में कहीं पसंद है क्या है देखो बेटा भेरे भैंकोट में ही ॾोलणो बिर मेल दूही डोलना माते पर्वत मेल दूही डोलना राम में तो सिन में दी भगवत में तो सिन में दी सिन में तुमका पाय रही થયે ઘણા તે ફૂંસરો આટો રૂપે દારૂ પીવું ને બેટી હું ભક્ત મેં જલ્દી યાર માથે મેલ દેવ તો रे जाय भगवान बुझरे हनुमान मार तो दो મારી તો जाओ भाई तो हनुमान जी महाराज विरोध हेदर वीर વીર सामर्थ नहीं जी देख वो जरे श्रीदारा कल तो गजानंद जा रहा हनुमान जी महाराज आवे हनुमान जी महाराज रे आप थान थिरप दो खेड़े खेड़े मंगल गुवाड़ो हनुमान जी ने दजा तेल हिंदू रे रोटार साडो हनुमान जी माला फेरो बेरी आदर सार आदर करो तो कहीं बनता आवे वे वे तो तो हनुमान जी महाराज राव खेड़े खेड़े थान थ्रिप दिया रहा मंगल गाई दिया रोटा थड़ाई रिया हनुमान हनुमान हनुमान माला फेर रिया अबे हम करता करता मार मार करता है हनुमान जी महाराज आया तो आगे हनुमान जी रा नाम रीत माला फेर रिया अरमान अरमानदे करे बड़ा गदबियाग नाग बीरो ले जो राफाना भगत थे राफानी नावरी माला फेरे है तो अरमान जी महाराज आज बहुत खुशी भैया आवता ताई बोलियो मांगो मांगो ता थाने टूटो को महाराज बसन देव तो मांगा बात बाजार परम बाचा को महाराज ने बेकूट मत पधारो ना पाचा पाचा और विन्याई जी ने विराज्यो तो ले बसन में ना हनुमान जी ने बैठा आना भैया भगवान देखो रे हनुमान की तो कोई बस आयो को ये नहीं तो फिर आप राम सभा में बीड़ो भरियो तो कौन कौन बीड़ा दे देखा बीड़ा फेरे बैंकुंठ में ही डोलना बीड़ा फेरे बैंकुंठ में ही डोलना કર્મ તમારા साजियादको बे आया मोटो कड़ा वेदड़ दो पेट रे वेदड़ माथो रे पांच दो रिया उड़ रिया सब दिन ओद सा भीड़ो बेलियो भगवान देख रे रे ओद सा जी तू की कर मारे को महाराज महाराज लक्षण खोटा घना है पहले तो हेड़वा वेरवाना धंधरे महीने पर सब धंधरी धूड़ कर दे हो ने मैंने व्यापन भेजा उसने देखा तो ऋषिया देखा ऋषिया सब आप कट बड़े सब मर जाए मारा સબ है गुण है હે એ ઓદશાદી मार तो दो રહી પણ જને जाओ तो भगवान महाराज को ले बिड़ारा बोध तो सा वीर भी सहमत नहीं हो जी वो जा रे सिरदारा हदे तो दे देवता महाराज ओ दशा तो जी आवे आवे उरी के के आदर करो तो ओ दशा जी आई तो सवा पांच लाख रो पुण्य करता तो ओ दशा आई तो तने तो देख तने आगे धर्मरी पास बन जोड़ी तो ओ दशा में जाई जो को हो जा नहीं जावे जरने मत तो फूटे તો દળદન કોઈ જાય તો થોડો યાર તો મોટી એક શિખરાણી ડુંગરી જખાને જામ માથે जार बैठ गई सामत नहीं होती तो एक रोजा रे सिरदारा की तू नहीं आ वादर देवो तो सवा सोमन तो रिवार थे सिरो रंदायो रंदा सिरो रुका जाना मैंने कड़ाव हादरा शिखराणी डुंगरी माथे आया ले जरा मुंडा के कड़ाव मिल लियो तो सवा सोमन हीरो को आप जीम है जीम लियो बगड़ाओ थांकी रानी आई है जो आ रहा तेरो माथो धोयो है मत हो तो होई धप देना इरा पग गया पग पकड़ता ही पाना भी आशीष छूटी है ओ भाई थानो अमर चुड़ो आशीष है इबसल रे जो बागरा है डोलना साल रे जो बागरा है डोलना राम तारो दुर्लग दी राम दुर्लग दी रे जो ही डोला दुख पावती ढोलण कोटां दुख पावत राम मारा पानी दी मारा पानी आवादर करी ಆವಾದರೆ ಕರಿ ಕರೀತು ಇನ್ನ ಕರ್ಕರಾರ बिठो ಬೀರ भैया ಬೀರ್ भी आ तो धर्म ने क्यों रे भाई थोड़ो पार है तो धर्म ने पार करी ने आप करा गांव खेड़ागढ़ किला में लेगा बे आप ते खाना मिने लाया लाया वो बहुत दिशा माने और ये वो ते खानो है वो तो माल है यूं करता करता हाथ हो रे मिलेगा ले जा आप छवा सोमना तला जड़ दिया भगवान मन में विचार करियो मारी ओद सागी वाई आई को ये नहीं તો ભગવાન આ ઉદાસીમાં બેઠા તો એ ભગવાન એમ માને તને પૂરી ભીજુરી નામ બસ ભીજુરી आई बिजुरी देख बोले हे दीनानाथ आज उदासी में क्यों था यूं की रहो फीका की रहो और ये बिजुरी राजा बासक ने मारू बसन देनी आई और बसन लगातार बगड़ाओ तने खपावना और ये बिजुरी देने तू जावे नहीं को अंदाजा मैं जार बटे कहीं करूं को रे बिजुरी तू कांदरी बन जा कांदरी बनवाने दोबारे जार बने भरत रोप जे બગડે તો દાતાર ઘણા હે વર્ત तू જાચો તમાશો કરજે તું નાચ નૃત્ય કરી તને બેસ ખુશી ભેજાઈ તને मांग मांग भी માંગ थने થને तो तू धन ધન तो मत मांग जे अरे धरती आसमान દાતારી में मांग जे धरती आसमान थन दातारी में दे दे हगड़ी जमी ऊद की जाए ऊद के बदले में कटे रहे इन बात रोबा ने शोगन ने ऊद की जमीन पे पानी पिए नहीं ऊद की जमीन में उबा ही रहे नहीं नहीं थन दातारी में जमी आसमान दे दे दिन तो अगली जमी ऊद किया जी ऊद की जाए बे कट उबारे नट जाएगी भाई तने जमी आसमान तो कौन दा जन बसन हार हो जाए बसन हार व्यार खपियाई थी जे दे तो बिजोरी आप भगवान करूँ जहल बिहार अब बेखूट निसी उतरी तो हाथ भी से कांदरी भणी कांदरी भणी है तो हाथ भी से तो बाजा बजावन वाला पकाव क्या है वाह वाह दो से कने भैंसा है तो वे तो ले डेरो डेरे आई परदेशी कांदरी तमाशो से जा द्वारे कोरे कांदरी तुम आई है को समंदा पार आई वहां पर शोभा सोने वाह वाह राचा है कोरे बिजुरी तमाशो करो भाई देखा तो बिजुरी भरत रोपियो है भरत रो पर हाथ बेवड़ा ऊपर ऊपर माथा माथ ऊंचिया उस बेवड़ा दो एक कावड़ी में दो गद्दा ने बैठा नहीं दो ना पाड़े ले कावड़े बे भरत माता सडी વર્ષમાં તો સડી રામ નાશ કર્યો નાશ કર્યો કે નહીં આ દિશા નાગમરી હુજી હુજી તો ભાઈ નહીં હોજી કહે તે શિવાય ને દખા કે જાણજો દખા અલ્લાહ રાજા રે ઓ શ્રીદારા કાંદરે મથી દાખજો દા જે દાન દાખોલા બાગ ધીરા સોરવા જી સોરવા મંગલાઈ આ તો જમે હર दाख जो दान जे दान दा खोला बाग दिरा सोरवा तो आपा नु मांगे लिया जमीन जमीर आसमान तो आपा उबा कटे अरे वाला इने कांदरी मर समझ ना भगवान री पूरी है ने खपाउन वास्ते आई है तो सामथ नहीं हो दिया सोरवा सोनार दीरे वास्ते सिर मंगायो सोनवा सोरवा सोनार ये कंचवो बनायो लाख करोड़ रो हार मंगायो एक हीरा ना धरावी जादम है ਇਤੀ ਸੀ ਜਾਣ ਲੈ ਰ ਬੁਜਰ ਨੇ ਢਾਦਰੇ ਮੈਨੇ ਗਾਦਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸਵਾਈ ਬੋਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਦੇਖਾਂ ਅਲਗ ਘਰ ਆਜ਼ਾਰੇ दीन दिया दीन बियाल हरे लागी तो मारे कने दातारी कोनी नो ने देवा के पग फुंस ने हाथ को रुमाल थारा मन में जो दातारी मारे कने को हो जे नहीं है ओ हाथ रुमाल ही तो मन तो सज आवे है तो बिजुरी वे कहीं कह सके जब धनिया बिजुरी वहां पर तो नहीं थी उतरी उतर पर वो गेण हो जो सूख तो आ बिजुरी पेरियो तो नक सक उदी आ होना में मंडी जे गई बिजुरी देख बोल रही अंदा था दातार तो थाने जरा धरती पृथ्वी में नहीं है कियो तोरे बिसुरी धरती धरा है अरे बड़ा बढ़िया कोई लाद जवर जाचा में न कहीं ठा पड़े लाख किरोड़ दे दरबले जावो लागारी ऊंट करे बाग जीरो शुरू बुझनान जाचे होते धरती की चारों खूंट बिजोरी तो एक बोल रही अंधा था मारो तो खर्चो ही नहीं बेको नहीं like a cure कांद्रीलेले मोती हर लाल लाख करोड़ दर बिना कोई हेठे हाथ मांडियो तो थने महादेवरी लाख करोड़ दर बले ले रे भिजूरी कांदरी ले ले होनारा कलशान लाख करोड़ दर बिना कोई हेठे हाथ मांडियो तो शंकर महादेव की विदुरी देख अंदा था मुल्क में दजाऊं तुमने तो कांदर को तो डेरू रही तो धन लेर मन निमर कौन है नहीं मन तो गेले घाटे भी लूट है नहीं तो कहीं सवाई बोल के विदुरी ने देखा 세다 ਆਵੋ ਬਿਜੂਰੀ ਕਾਂਦਰੇ ਲੈ ਜਾਓ ਹੱਥ ਆਣੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਫਿਰਦਾਰ ਕਰੇ ਬਾਗ ਦੀ ਰੋ ਸ਼ਰੋਬ ਨਾ ਜਾਚੇ ਉਥੇ ਸਮਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰ ਦਾਤ ਨੇ ਕੋਈ ਲੂਟ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਵਾ ਵਾ ਤੋ ਕੋਡੇ ਰਾ ਵੀਰ ਵੇਖੋ ਵਿਰਦੰਗ ਵਾਜ਼ਾਏ ਬੇਵੇ ਰਾ ਰਾਬਾ तार गेरा बाजरिया टिकोर आय भरत रोप्यो है कांजरी बा बाजरे लिखी आप तमाशो तो बाबू जी आप तमाशो देखने बैठ गया सवा डंको बाजे तो बाबू जी देख तमाशो बहुत परेशान या महादेव देख रो जा रे मांग मांग मांग थने टूटो कियो को अंदाता पसंद तो मांगो कोहरे बिजूरी ने मांगे सोई देवा कियो देवा मारे वचन है तो कहीं भिजूरी मांगे है बाबा जी के कहीं सवाल है देखा तो सोवनाए दर्शन सोवे बाबा नाथ सवाल किया सौवना दर्शन शोभे थाने बाबा नाथ जी शोभे भंगुआ बेश तो इस बगड़ा भगड़ावतन स्वरा राग जो बाप जी में जाऊं देश परदेश तो हमारा दातार जात ने जाऊं मुल्क में तो फिर फिरार में पाती हम तो बगड़ा भगड़ावतन बाली भागो नहीं मैंने सही दे वाह वाह होई आपको मांगना रोई कहना है बाबू जी देख बोजा रे बिजुरी तुम जा थार बाल बगड़ाओ तन बाको हण को नहीं मां देव मन में जानी बे पर सेमिनार हट फिर फिरार आप पाती आए भगवान मन में देखो मारी बिजुरी गीत वे या पाची आई को ये नहीं देख तो आप सिंगर यशवारी रे बीस बुझा दा हरोड़ी रे जोग में आई मैं बड़ा बड़ी मैं बड़ा बड़ी मैं बड़ा बड़ी करती आई भगवान देख रे बोझा रे बड़ा बड़ी जा का बदर काम है तो भगवान के जोड़ा रे डाबे पशुवाड़ी रे सिंगा सन गलियो भगवान दे अगर वो जा रहे बड़ा बड़ी थे बड़ा बड़ी की कृपा जो जोगमान में नो देव जोग माया बोली अंदा था आप बोलो जो हमारी बेले आवेदन में बोल जाऊंगी बोल जाओ आप बोले हाँ? आप बोले चार बुझारो ना था मन में विचार करियो भाई दही देवता सब गया तो फंस आया को ये नहीं भगवान देखे हुए आप चालू हो गया ಕೋಟ್ಯಾರು ರೂಪ ಕರ್ದೋರಪ್ಪ ಅಲೋ ತೋಸ್ ಯಾರು ಬುಸಾರೋ ನಾದ ಕಳಂಗಿ ಕೋಟ್ಯ ಬಣ್ಯ बन कलंगी को जा रहे अभी आगत रहा वीर भैया भगवान मन में जानी बटे जा रहा लो इस सिडगा आपने पाने हुगलाई कर दे तो फटकार दे दे तो वो एक ही जवान माने प्रलागत में मेल दे ओ विचार कर रहा भगवान वीर भैया सामत नहीं हो देख रहे वो जा रे सिरदार आयता तो दे देवता आवता અર આદ પિંડા આપો આપ આવે આવે ભાઈ કોઈ જેરો શરૂપ કર્યો જો કોઈ વાની હોગલાઈ કરજો ને આપને એક જ ભાનો પરલમ મેલ દેલા મેલ દેલા હમાય તો મહારાજ ટે પધાર રે મેર પખ ખોલ ખોલવાના શરણ મત લે લેજો ચાર વિસરો ના આપ કુછ લિકાયા કિરો લે લખો માંહિયા બિનાટ કર રહી હે મગરાવ તની જાજમ રે ચરુ મેરે ફરે રબ રલ ભિખરે સામતું નહી હોજી તે એક બોજારે શેરડા ઉઠો ઉઠો સુરે ગાયર દુલ લાવ તમારા રાજા પખ ખોલ શરણ મત લેવા લેવા तो पकड़ा था सुए गायर दूध मंगार पग खोल खोल आप सरना मतलब डी इधर सो पड़े आप भगवान देख रो जा रे श्रीदारा में तो कोई ड्यों थाने हुगलाई को नहीं आवे कोहन दादा आप रे हुगलाई माने को नहीं आवेगी भगवान देख रे पग खोल खोल है सरना मतलब मेरे बहुबरा ही भगत है रबे आने की करे कपाओ तो चार बुझार नाथ बहुत प्रश्न रहेगा चार बुझा धारा ने दर्शन दिया लाडू पेड़ा बाग मिठाई कराया माँ भले पधारिया प्रभु जी दिश जगे आप रही दे माया माया कहीं तो आप गजानंद जी ने भेजो कहीं हनुमान जी ने भेजो कहीं कोई नहीं भेजो आप खुदो ही खुद पधार गा हो तो मारो तो तारो तो आप आप रिवार से हाजर हाँ तो हमें चूक बिना कहीं कह सके भगवान ने आप पालन हमारा राव हिंडा देव ने डोगा डोगा है भगवान देखो भाई अबे कहीं विचार बनाना भोजरे रानी है साडू माता બસ હતી હે બારે મણનો ચૂરમો કરે લુલા પાંગળાને જીમાવે અરે બારે મણનો પેજાનો આટો ભેંચે અરે પછી નેન ધર્મ કરે સ્નાન સંપાકડો રોટી જીમ્યા કરે સાડું સતીએ સાડું સતા ટાઈ દા તો બગડા તને ખપા આવે બે તો એક દે તો બા પાદણા મેં રાખી दूजी दे धारा बूढ़ा के जोगी बनबरा साडू रे द्वारे दारा अलग जगाई બધે धर्म घटे पाप સાડું द्वारे थारे उबाया આપ आप भगवान जारा बालक जगाई જગાઈ साधु माता सब ते नेम धर्म करा वस्त्र वेर हिनान करने बैठा ऊं तंत में जार भगवान बात करी साधु देख बोल रहे सो यहाँ बारे कोई जोगी आयो तो भूखो तो मैंने जिमा तो राका गाल दो सो यहां थाल ले रही लो महाराज भूखा तो प्रसाद कर लो और आका ले रहो भगवान आप जोगी भेड़ो हाथ रंगड़ी थाना तात्रा में आका नहीं ले हूँ थाने धिराणी अपन बा बैठे ज्यों ज्यों उठ मार के ना ताका लेऊ लेऊ भगवान जी के भैया वस्त्र ही ने बनो आवो कोनी नर जाए सोरिया जा के रे भाई साहब जोगी तो बड़ो आंटी लो है और तो आपने बैठा हो ज्यों ज्यों बुलावे है साडू मन में विचार करियो भाई जोगी है रो तो आपने माता पिता ही है भगवान गड़िया आपने ने नागा उगड़ा गड़िया कपड़ा में तो गड़िया कोनी इस जोगी ने बुलाओ तो ने शर्म नहीं है तो अपन चालता ने क्यों आवे रापा सत क्यों हारा इरा साडू रा खुला तो बाल रा वस्त्रहीन व्योड़ी ले हाथ में थाल रा बूट वीर वेगी भगवान आऊं थी देखी देखी तो भगवान ने आपने शर्म आ गई तो माथा रा बाल रा साडू रा सूटा जगन नीचा छिटका तो चारू मेरे डीज रे चारू मेरे अंग अंग ढगीज गोई भगवान साडू माता आगे ले ले जोगी बिचा गालो गयो तो भगवान आप मुंडा के मेकली मांडी लाओ माजी इसमें बिचा गालो માદરીઓ ને આમ નામ લે ઓર ઝપ દે ને આમ સાડું તો ઊભી રીવી કો બેઠા જી બાત રો વસન પાऊं કે વસન કે ના પાવો કો મહારાજ મેં તો જલમ જલમ રી બાંધડી હું માજી કેવું નાળો મને સંસાર માં કોની કોની થાની જબાન શું થા માજી કયો લાવો માજી મને આકા ગાલો માજી કયો તો કે તમારા બેટા બાજો અરે તું બસન હાર વેજો વેજો ભગવાન દેખ્યો રે ગજબ ક્રિયા મેં તો એને સળંદ મારતા આવ્યો આપો તો આતા આપા સળી જ ગયા भगवान देख बोला रे मांग माजी तू ठार गरु का बदन तो नहीं फिर फूटा बदन मारा निकल गया जबान में जो तो बेरे आकर है वाह वाह मुंडा गया आप साडू माता पल्लो बिछायो मैंने भगवान देख रो बोला रे माजी साहब पेट रहा लगा लेता तो तो नौ महीना करवा रानो पड़तो अरे मुंडा के था पल्लो बिछायो सारी जोड़िया खेलूं ग्यारहवीं कला देव नारायण बाद अरे थानी भक्ति सुधार और बेर बार ले आके हे महाराज कद पधारो दुजेला अंबर दुजेला धरा दुजेला नवलग तारा एक तो थमे बिको ने एक दिन पर माला री डोंगरी में जलम वेला मारा ओ साडू माता ना बसन दियो बसन देरा पास आया पकड़ाव ने बस ज्योति में ज्योति आप रम गई ही पकड़ाव ताने क्यों रे भाई थानो हुकुम में जाओ तो दही देवता ने लेर बेकुट में जाऊं को महाराज पधारो आप रे अंचा वजू करो दही देवता ने लेर आप बेकुट में गया तो भगवान आप उदासी में बैठा बैठा तो जोग माया आई बड़ा बड़ी बड़ा बड़ी करता करता आज भगवान के जोरा और सिंहासन ढलियो भगवान बोजा रे बड़ा बड़ी थे बड़ा बड़ी की करो बताओ तो महाराज आप बोलो तो हमारी पेड़े आवेदन में आपने ढाब ले हो तो भगवान बोलिया के आंगड़िया इकलंग राजा में बड़ो पगतलिया प्रेम राजा में बड़ो गिरिया गोमंद राजा में बड़ो पिंडिया परशुराम जी में बड़ो गोडा गोरदिन जी में बड़ो जंगा जगदीश में बड़ो पेट पार भ्रम में बड़ो जो मैं बोली ढो महाराज पेट तो मारो है मोटियार मोटियार दल में को है नहीं नौ महीना बूंद गर्भास में रखे दिन फाके है भगवान देखियो बात तो हाथी है तो फिर हेरा भगवान ऊंचा सिटिया कि अब्बो मेरा भगमुत में बड़ो साथी छत्रपति में बड़ो जोग माए बोले डबो महाराज साथी मारी है इंड खान वे इंडा रमत तो बैठ रहे पोग पाग जाया करे कि साथी अस्त्री रे मर्दरी नहीं है भगवान दी की बात तो हाथी फिर भगवान आप ऊंचा सिटिया कि काना केश राय जी में बड़ो नाग नारायण में वडो नैना नेत्र राजा में वॾो कान्हा केशराज जी में वडो पट्टा परमेश्वर में जोग माया देख बोली महाराज सोटी छत्रपति में बड़ी सोटी नाम लुगाई रो एडी नाम लुगाई रो है अंदाता आप तो बिछे बिछे जो दो बड़ा बड़ी तुम्हें तो ही जो नहीं भगवान हाथ जोड़िया वाकई माँ जी तू तो बड़ा बड़ी है तो जोग माया आप उबास खाई है उपहास खाई तो भगवान रे मुंडा गए भेद कदे मुखार बंद मुंह निकले तो मुंडा आगे थापो लागो तेने भगवान आप भेद कदे वे बंचिया असंगाई तो शिव पर लगी ओड़ा असंगाई बर्मा वेगा अरे भगवान मैंने ले कोई कोनी तेने भगवान महाराज हाथ जोड़िया माती तू बडम्बडी है वो बीड़ो गूंद रही जोग मैर मुंडा के मेलियो जगथम बाबू जी हे महाराज ओ बीड़ो कहनो है कि बासक राजा ने भसन दे दियो और पकड़ाओ तो खपावना लोग माया देख बोली हे महाराज वे जती है सती है शोरबा है दातार है सवा पांच लाख रो पुन करे मैं तो मैंने खपाऊँ गो ये नहीं भगवान बोले रे बड़ा बड़ी जी मारे बास करे बसन में गो पकड़ा तने थे खपाई दो तो बोझरे करे जार में बेटो बाज हूँ ग्यारहवीं कला देव नारायण बादान वालो अवतार देवानी भक्ति सुधार हूँ जोग माया बोली महाराज आप बेटा बाज कहाँ के मैं बैठो बाज हूँ को महाराज आप बेटा बाद तो अस्त्री बाद तुम्हें बन खपाज दे तो इस पकड़ा थानी माथा नी माला पैर फिर बैंकुट तो महाराज आप शिला में कर ले तो तेने महाराज पता रोकियो मेरा फिर बैंकुट में फिर बैंकुट में ढोला राम महाराज जग थम्बली भॻवत महाराज जग थम्बली जग थम्बली नाज़ रही ॾोला सकर खबर लाइ तरह ढोला सगर खबर लाइ तरही ढोला valeu.